द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र इसमें पदभाष्य कुछ बाकी है चौवन पृष्ठ में यह शंका हुई तो निश्चित ज्ञान तो इष्ट है सत्यमेव तथापि ब्रह्म का स्वरूप जिस धर्म के द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जाता है वही उसका स्वरूप होगा तो चैतन्य है ब्रह्म का धर्म क्योंकि पृथ्वी आदि किसका धर्म नहीं है तो ब्रह्म को चित्त रूप ज्ञान रूप कहा गया तो ही ब्रह्म का स्वरूप होगा ब्रह्म रूप्यते चैतन्य न विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि कहा गया तो एकन से सिद्धांतिकता सत्यम एवं तथा भी तद अंतकरण देहेन्द्रियादि देहेन्द्रिय उपाधि द्वारा नैव आदि शब्दे निर्दिश्यते तद देहादि वृद्धि संकोच चेदादि से नाशेषु नाच स्वतः सत्यम एवं ठीक है तथापि तद अंतकरण इंद्र उपाधि द्वारा नैव निर्देश्य ब्रह्म का निर्देश किया जाता है अंतकरण इंद्रिय उपाधि के द्वारा है से स्वतः नहीं उपाधि के द्वारा ही उसका निर्देश किया जाता है विज्ञान आदि शब्द ही सत्यम ज्ञान विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि शब्द से उपाधि के द्वारा क्यों निर्देश करते हैं टीका में ननु उपाधि द्वारा ने उसके पहले सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम चैतन्य पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूपे श्रुति तात्पर्य गम्यम तथापि यदुक्तम ब्रह्मण रूपम कथो नास्ति ब्रह्म का रूप क्यों नहीं ऐसा जो आक्षेप किया था यही है कि ब्रह्म का जो निरूपण किया जाता है तो, तो उपाधि के द्वारा निरूपण होता है तद उपाधि द्वारा नैव ब्रह्मण शब्देन निरूपणम निर्देशनम उपाधि के द्वारा ही शब्द से निरूपण होता है न स्वतः इत अभिप्रेत्य अंतकणादि अभिव्यक्तिम उपलभ्य अंतकणादि के अभिव्यक्ति अंतकणादि का भान होता है देखकर के उस उपलभ्य यद उपाधि अभिव्यक्ति अंतकण आदि उपाधि है उपाधि की जो अभिव्यक्ति भान होता है उसका जो निमित्त है जिस निमित्त से अंतकण उपाधि की अभिव्यक्ति होती है कोई चेतन प्रकाश से ही जड़ का प्रकाश होगा अभिव्यक्ता निमितम चैतन्यम तद ब्रह्म बुद्धि अंतकण अभिव्यक्ति का जो निमित्त है वही चैतन्य है ब्रह्म इति निर्दिश्यते ननु उपाधि उपाधिर उपहित संबद्ध होती उपाधि उपहित से संबद्ध होगा उपाधि यदि है उपहित के साथ उसका संबंध होगा चैतन्य से तो असंग से कथम देहादि उपाधि चैतन्य तो असंग है उसकी उपाधि कैसे होगी देहादि तो उसके साथ किसका संबंध ही नहीं संबंध हो तो उपाधि होगी तो संबंधन संबंध नहीं होता असंग है इत आह तद अनुकारित्वा देहादि बुद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च न सत उपाधि इसलिए देहेंद्र है तद अनुकारित्वात् उपाधि के अनुकारी अनुकरोति तो अनुकारी उपाधि के अनुसार उसका अनुकरण उपाधि में कंपन हुआ तो प्रतिबिंब में कंपन दिखता है जल में कंपन हुआ तो जल में प्रतिबिंबित चंद्र आकाश का कंपन दिखता है इसी प्रकार अंतकरण में वृत्ति हुई सुख दुख अंतकरण में चिदाभास चेतन का प्रतिबिंब है उसमें सुख दुख दिखता है लगता है प्रतिबिंब चिदाभास में सुख दुख है अंतकरण का धर्म उसमें दिखता है चेतन शुद्ध चेतन तो नहीं शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास है जैसे आकाश का प्रतिबिंब जल में जल कंपन होने पर चंद्र आकाश हिलता है इसी प्रकार तद है उपहित संबंध नहीं होने पर भी उसके अनुकारी उपाधि धर्म उसमें दिखता है कैसा अनुकरण करता है देहादि वृद्धि संकोच संकोच छेदादिषु देहादि में वृद्धि हो उसमें दिखेगा संकोच हो छेद हो कंपन हो नाश हो इसी प्रकार उसमें दिखता है जिस प्रकार दर्पण का संबंध दिखता है प्रतिमा में जल का संबंध दिखता है प्रतिमा में जल में कुछ कंपन हुआ नाश हुआ वृद्धि हुई इस प्रकार प्रतिबिंब में दिखता है स्वतः नहीं है कोई धर्म ब्रह्म में टीका में यथा जले कंपमाने सविता कंपतैव भिद्यमाने भिद्यते वेति मिथ्या तद्धर्म भागित्वात् सवितुर जलम उपाधिरितुच्यते न तो संबंधाद दूरस्थयो संयोगादि अयोगात जले कंपमाने सविता कंपतैव जल हिलता है तो जल में प्रतिबिंब दिखता है सूर्य का तो सूर्य हिलता जैसे लगता है कंपत एव कंपन सूर्य में कंपन नहीं जल जितने हिलाने पर भी सूर्य तो प्रति स्थिर है किंतु प्रतिबिंब में दिखता है विद्यमान विद्यतेव जल भेदन हो गया नष्ट तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा इति मिथ्या तद्धर्म भागित्वात् तद्धर्म भागी तद्धर्मम भजते तद्धर्म भागी मिथ्या वस्तुतः तद्धर्म उसमें है ही नहीं दिखता है उपाधि का धर्म धर्म उपाधि धर्म भागी उपाधि धर्म भजते उपाधि धर्म वाला जैसे लगता है कंपते इव वास्तव तद्धर्म भागी नहीं है तद्धर्म उस समय नहीं दिखता नहीं है मिथ्या तद्धर्म भागीत्वम धर्म भागित्व का कि उसकी प्रतीत होती है इसे तद्धर्म भागित्व वास्तव नहीं मिथ्या है आरोपित तद्धर्म भागित्व इसलिए सवितुर जलम उपाधि तुचते सूर्य सूर्य के लिए जल उपाधि कहते हैं ये नहीं कि जल के साथ सूर्य का संबंध होने से उपाधि न तो संबंधात जल उपाधि के साथ सूर्य का संबंध के कारण उपाधि कहते ऐसा नहीं क्योंकि दूरस्थ यो आदि अभिवाद दूरस्थ सूर्य जल दोनों का संयोग नहीं हो सकता है संयोग समवाय आदि संबंध नहीं हो सकता है तद्वत देहादे वृत्ति संकोच छेदादिषु दाहादिषु नाशेषु चैतन्यस्य मिथ्या देह धर्म भागित्वाद देहादिर देहादेर उपादित्वम अविद्यते इत्यर्थ तद्वद उसी प्रकार जैसे जल कंपन होने से सूर्य में कंपन दिखता है देहादेर वृद्धि संकोच छेदादिषु दाहादिषु नाशेषु हा नहीं है रस्व अच्छा देहादि दीर्घ चाहिए तद्वत देहा देर वृद्धि देह आदि में वृद्धि हो संकोच हो छेद हो गया ये जो कुछ देह में कुछ परिणाम दिखता है चेतन में क्योंकि चेतन का उसके साथ संबंध है देह में वृद्धि हो गया तो मैं मोटा हो गया मैं पतला हो गया हाथ मेरा कट गया ये सब व्यवहार होता है दाह दिसु दाह हो गया चेतन में कुछ नहीं होता है तो भी दग्ध चैत्र दग्ध चैत्र हाथ कट गया स्वयं भी कहते हैं दाह छेद हुआ नाश हो गया तो मर गया चेतन समा चैत्र मर गया देह का नाश हुआ चेतन का नाश नहीं तो भी उसमें नाश व्यवहार होता है चैतन्य में देह धर्म भागित्व देह धर्म वृद्धि ह्रास छेद दाह गमन ये सब देह धर्म उसमें दिखता है देह धर्मम भजते थे देह धर्म भाग भागी देह धर्म भाग भागी वस्तुतः चैतन्य में देह धर्म भागित्व नहीं है मिथ्या है आरोपित होता है मिथ्या देह धर्म भागित्वाद देहादेर उपाधित्वम देहादि को उपाधि कहते हैं देहादि उपाधित्वम अभिधीयते कहा जाता है ननु न स्वतः चैतन्यतया निरूप्यते ब्रह्म कथं तरी तद अनुभव स्वतः ब्रह्म चैतन्यतया न निरूप्यते चैतन्य का ब्रह्म का निरूपण चैतन्य रूप से स्वतः नहीं होता है उपाधि धर्म से कहते हैं आदि धर्म जो कहा गया सत्यम ज्ञान आदि आदि उपाधि को लेकर के कहते हैं स्वतः उसका निरूपण नहीं होता है ब्रह्म का यदि स्वतः ब्रह्म का निरूपण नहीं होगा कथनतरित अर्थ तो तो अनुभव फिर ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा इति आशंका है स्वतस्तु अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम सत ब्रह्म तो अभिज्ञातम विजानताम विजानताम जो जानते हैं ज्ञानी उनके लिए तो ब्रह्म अभिज्ञात ही है अभिज्ञात का अर्थ तो ज्ञान का विषय नहीं होता है अविषयत्वेन ज्ञात होता है जो जानते हैं ब्रह्म को वो ब्रह्म विषय विषयत्वेन ब्रह्म को जानते नहीं अविषयत्वेन उनके दृष्टि से ब्रह्म विषय होता ही नहीं ज्ञान के द्वारा चित प्रकाश्य नहीं होता है चिद भाष्य नहीं होगा ब्रह्म तो स्वयं चिद रूप विज्ञात का अर्थ प्रकाश्य भाषित चिद भाष्य चिद भाष्य तो जड़े में आएगा ब्रह्म में चिद भाष्य तो नहीं नहीं आएगा ब्रह्म ही स्वयं चिद है इसलिए चेतन का विषय चेतन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है विजानताम जो ब्रह्म को जानते हैं उनके लिए उनके दृष्टि से ब्रह्म विषय नहीं होता है ज्ञान का ज्ञान के द्वारा चित्त के द्वारा प्रकाश नहीं होता है और जो अभिजानता विज्ञातम अभिजानता का थे तो बिल्कुल नहीं जानने वाले के लिए ज्ञात ऐसा नहीं नहीं जानते किंतु तो देह आदि में अहम बुद्धि करने वाले देह को ब्रह्म समझने वाले के लिए देह इंद्र को उनके लिए ब्रह्म विज्ञात देह को इंद्र को मन को बुद्धि को कुछ प्रकाश कुछ देख लिया ध्यान में बैठ करके कहते ब्रह्म विज्ञातम अभिजानता ध्यान में बैठे कुछ रूप दिख लिया कोई ज्योति प्रकाश दिख लिया तो अं, अं, अंतकरण बुद्धि का ज्ञान हो गया देहादे में बैठा हूं ध्यान में बैठा हूं ये सब को देख करके उसको मानते ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उनके दृष्टि ले ब्रह्म विज्ञात ज्ञात होता है चिदिभास्य प्रकाशित होता है ब्रह्म विज्ञात हो गया ये किसके दृष्टि से अभिजानता नहीं जानने वाले जो देहादि में अहम बुद्धि करते उनके दृष्टि से ब्रह्म विज्ञात होता है वास्तव जानने वाले विजानता ब्रह्म अभिज्ञात ही विषय नहीं होता है तो अनुभव कैसे होगा ब्रह्म का प्रश्न था अविषयतया एव विषयानुप्रत चित स्फुरणम ब्रह्मानुभव इत्यर्थ चैतन्य का स्फुरण है ब्रह्मानुभव चित स्फुरणम चित स्फुरण कैसे होगा विषय अनुप्रत चित स्फुरणम जो घट ज्ञान पट ज्ञान होता है घट उपरक्त चैतन्य का स्फुरण तो घट विशिष्टत्वेन घट घटाकार वृत्ति होकर के वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य से घट का प्रकाश होता है किंतु वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य कण से घटाकार वृत्ति उपरत चैतन्य का भान हुआ घट का जो ज्ञान होते है घट विषय से संबद्ध क्योंकि यदत् यदभाति तदात्म रूपम जो है जो भाति भाति का तो स्फुरति होता है आत्म स्वरूप है घट दिखता है तो घट का भी स्फुरन हुआ स्फुरन तो ब्रह्म स्वरूप है किंतु विषय उपरत स्पुरण हुआ घट विशिष्ट होकर स्पुरण हुआ वो ब्रह्म नहीं है विषय अनुपरत चित्त का स्पुरण ब्रह्म ब्रह्मानुभव विषय अनुपरत चित्त स्पुरण कैसे होगा वो एव अविषयतया विषय नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति करने पर अहम अस्मि ब्रह्म वृत्ति अखंड ब्रह्म विषय को लगातार वृत्ति चलने पर जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है जिस प्रकार घटाकार वृत्ति से घट अज्ञान नष्ट होता है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है तो चैतन्य जैसे लगती है वृत्ति उसे अज्ञान निवृत्त हो गया और घट को प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको फल कहते हैं वो घट को प्रकाश करता है क्योंकि घट जड़ है ब्रह्म अनुभव के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होती है अहम अस्मि ब्रह्म श्रवण मनन करने पर संशय दूर हो जाए तत्वमसि महावाक्य प्रमाण से ज्ञान होता अहमस्मि ब्रह्म अधिकारी को वासना रहित है वैराग्य है अत्यंत दृढ़ जिज्ञासा मुमुक्षुत्व है तो वेदांत वाक्य से उसको ज्ञान होता अहमस्मि ब्रह्म ये ब्रह्माकार वृत्ति है जो निश्चय है मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय निश्चय तो अपने विचार करने पर निश्चय होता है यह प्रमाण तंत्र है ज्ञानम तंत्र भविष्य ज्ञानम कर्त तंत्र उपासनम उपासना और ज्ञान में भेद है जो श्रवण मनन नहीं करके नहीं समझ करके हम अस्मि ब्रह्म चिंतन करते हैं प्रयास करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए समाधि करने के लिए वह उपासना है वो उपासना प्रमाणजन्य नहीं तंत्रम कर्ता चाह करके कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति उपासना कर कर सकता है नहीं कर सकता है अन्यथा सुबह कर सकता है नहीं तो सुबह थोड़ा सो जाकर करके दस बजे थोड़ा करना संध्या करने के लिए गुरुजी ने कहे तो करना पड़ेगा भोजन के पहले थोड़ा कर देने से हो जाएगा ऐसे कोई करते सुबह चाय दूध पी लो फिर सो जाओ फिर बाद में करेंगे दरवाज़ा बंद कर रखो तो सब पता चलेगा ध्यान में बैठे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम उसमें जैसे भी कैसे करे उपासना किंतु ज्ञान कर्तु तंत्र नहीं वस्तु तंत्रम इच्छा नहीं होने पर भी प्रमाण संबंध प्रमेय संबंध हो गया तो ज्ञान हो जाएगा जैसे दुर्गंध का ग्रहण होता है रास्ता में जाते समय कोई नहीं चाहता तो भी ग्रहण करना पड़ता है इच्छा नहीं होने पर भी प्रमाण विषय का संबंध हो गया इंद्र का ज्ञान हो जाएगा इसी प्रकार श्रवण मनन करते समय अधिकारी को तत्त्वमसि वाक्य से ज्ञान हो ही जाता है निश्चय होता है वह निश्चय है ब्रह्माकार वृत्ति और अपने मन से जो सोचता है अहम अस्मि ब्रह्म रटता रहता है वे उपासना है निश्चय जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसमें वृत्ति में चिदाभास का उदय होता है चित प्रतिबिंब उसमें रहता है किंतु तद्विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से ब्रह्म का आवरण अज्ञान निवृत्त हो जाता है निवृत्त होने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं घट को प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट का प्रकाश होता है क्योंकि घट जड़ है ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से आवरण हटते ही आवरण हट गया तो उस प्रकाश है यदि कोई दीप है उसको ढाक कर रखा है उसमें घड़ा ढाक दिया घड़ा को हटाएंगे तो दीप दिखेगा घड़ा को हटा देने से यदि बाहर प्रकाश नहीं तो दीप दिखेगा अंधकार में दिखेगा हैं हाँ? कोई के सांसद को तो अंधकार में कैसे दिखेगा अंधकार जितना अंधकार हो घड़ा आवरण हट गया तो प्रकाश है अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति मात्र से अज्ञान निवृत्त निवृत्त हो जाता है और उसको प्रकाश करने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं चित्त पूर्ण अविषयतया विषय नहीं विषय के साथ संबंध नहीं हो करके वृत्ति से घटाकार वृत्ति ज्ञान है घटा ज्ञान घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य विषय उपरक्त होकर के ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान वृत्ति की उत्पत्ति नाश से ज्ञान में भी अनित्य व्यवहार होता है घट ज्ञान हुआ नष्ट हो गया इत्यादि किंतु वो जो चित्त स्मरण अज्ञान आवरण हट गया अभिषयतया विषय अनुप्रत चैतन्य स्फुरण ब्रह्मानुभव ब्रह्म साक्षात्कार पहले ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति से अज्ञान निवृत्त हो गया स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप है स्वतः तो अभिज्ञात विजानताम विज्ञात अभिजानताम इति स्थितम भविष्यति आगे कहेंगे यदस्य ब्राह्मण रूपमेति पूर्वेण संबंध संबंध मंत्र में आया यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवा नूनम त्वं वेत्थ ब्राह्मण रूपम यदस्य यहाँ तक अन्वय करना नूनम क्या है के विराम है उसका अन्वय करना त्वं वेत्थ ब्राह्मण रूपम यदस्य यदस्य ब्राह्मण रूपम त्वं वेत्थ दहरमेवापि यहाँ तक है उसका अन्वय बता दिया भाष्य में यदस्य ब्रह्मण रूपमिति पूर्वेण संबंध आगे त्वम यदस्य देवेषु यदस्य देवेषु रूपम तो भिन्नो अधारमेव न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मण रूपम त्वम अल्पमेत अध्यात्म देहादि उपाधि परिचिन्न जो ब्रह्म का रूप तुम जानते हो देहादि उपाधि परिचिन्न देह इंद्रियादि उपाधि को लेकर के मैं जानता हूं ये थोड़ा जानते हो केवल अध्यात्म उपाधि को लेकर के नहीं यदि अधिदेव तो उपाधि परिच्छिन्न से अस्य ब्राह्मण रूपम अधिदेव तो उपाधि देवता संबंधी मैं देहादि उपाधि को लेकर कोई जानता है वो थोड़ा ही जानता है अथवा ऊपर कोई देवता में देवता को ब्रह्म समझ लिया अधिदेव तो उपाधि परिच्छिन्न से ब्राह्मण रूपम अधिदेवता देवता रूप उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म का रूप कोई जान लिया वो ब्रह्म है वहाँ ब्रह्म है किसी देवता को ब्रह्म है ब्रह्म तो सब कुछ है किंतु उपाधि परिचिन्न जो जानते हो तो थोड़ा ही जानते हो वेत्तत्वम तदस्य नूनम दहरमेव वेत्त अल्प ही जानते हो इति मन्यहम मन्यहम अंत में मंत्र में आया मन्य विधि नु मीमांसा एव तुम अल्प ही जानते तो जानते हो अथनु मीमांसा मन्यहम आचार्य का कथन है आगे जो मन्य विदितम शिष्य कहेगा यद अध्यात्मम यद अधिदैवम तदपि च देवेषु उपाधि परिचिनत्वाद दहरत्वाद न निवर्तते देह अध्यात्म देह संबंध उपाधि विशिष्ट जो जानते हो और देवता में जो जो रूप है जानते हो वो भी उपाधि परिचिन होने के कारण दहर स्वल्प है परिचिन है दहरत्वात न निवर्ते धरत्व से बिना नहीं और दहर ही उसमें दहरत्व रहेगा क्योंकि उपाधि परिचिन है देह उपाधि परिचिन हो देवता रूप उपाधि परिचिन हो परिचिन है इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान सम्य ज्ञान नहीं है यत् विद्वस्त सर्वपादि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तत्सुवेद्यमिति अभिप्रायः परिचिन रूप में तो वेद्य हो जाएगा देहादि उपाधि परिचिन वेद्य तो आ जाएगा वो जानते हो परिचिन रूप जानते हो स्वल्प ही जानते हो यत्तु विद्वस्त सर्वपादि विशेषम विध्वस्तः सर्वपादि विशेषः यस्मात् ब्रह्मण तत् सर्व उपाधि रहितम शुद्धम शांतम अनंत अपरिचिन्न है एकम अद्वैत भूमाख्यम भूमा अकायस्य भूमा नामक ब्रह्म वै नित्यम ब्रह्म न तत् सुवेद्यम वो सुवेद्य नहीं होगा उसके प्रकाश से सब प्रकाशित वो वेद्य किसके द्वारा होगा सबका प्रकाशक है वो वेद्य किसे होगा वो वेद्य और वेदित वेदिता एक चिद रूप है दृक और बाकी सब दृश्य ब्रह्म दृश्य नहीं उद्रिक रूप है इसे वेद्य नहीं होता है सुवेद्य क्या न सुवेद्यम वो ज्ञेय नहीं होता है तो ज्ञान रूप है दृग रूप है क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार एक ही सब को प्रकाश करता है बाकी सब प्रकाश्य है ब्रह्म वेद्य ज्ञेय नहीं ये अभिप्राय है यत एवं अथ नु तस्मात् मन्य अद्यापि मीमांस्यम् विचारे में बेते तब ब्रह्म यत एवं अथनु अथनु तस्मात् हेतु अर्थ में इसलिए मन्ये अध्यापि मीमा से मीमांतम आचार्य कहते अभी भी तुमको विचार करना चाहिए ब्रह्म मीमांस्यम कहते विचार्यम ते तब ब्रह्म तब ब्रह्म विचार्यम ब्रह्म के ऊपर फिर विचार करना चाहिए और बार-बार विचार करें मनन करें निधिध्यासन कर तभी ज्ञान ठीक होगा अभी तक जो ज्ञान हुआ परिचन्न ज्ञान हुआ वास्तव नहीं है एवं आचार्योक्त शिष्य एकांत उपविष्ट समाहित सन यथोक्तम आचार्यण आगमम अर्थत विचार्य तर्कतश्च विचार्य निर्धार्य स्वानुभवं कृत्वा आचार्य सकाशम उपगम्य उवाच मन्यहम यथ इदानीं विदितं ब्रह्मेति एवं आचार्य उक्त शिष्य आचार्य ने कहा और विचार करने का है और विचार करो आचार्य जो कहा शिष्य गया एकांत में बैठ गया एकांत उपविष्ट समाहित होकर के बिल्कुल समाहित होकर के चित्त समाधान होने पर विचार हुआ समाहित सन यथोक्तम आचार्यण आगम विचार्य आचार्य ने जो कहा यदि मन सुवेदेति दहर में पाविनुनम ये जो कहा अन्य देव तद विदिता तत्व विदिता तदि पहले कहा था जो कहा गया था आचार्य ने उसे आगमम अर्थ तो विचार्य अर्थ से उसका विचार किया यह विदित अविदित से भिन्न विदित नहीं अविदित नहीं विदित अविदित अपन से भिन्न होते अपना स्वरूप तो विदित नहीं होगा तो सुवेद ये कथन कैसे होगा मैं जानता हूँ वो तो विदित नहीं है ऐसा अर्थ तो विचार्य शब्द अर्थ को विचार किया कैसे विदित से अन्य अविदित से अन्य विदित कौन होता है अविदित कौन होता है ज्ञात अज्ञात अपने से भिन्न कोई होता है और दोनों से भिन्न तो अपना स्वरूप है वो विदित कैसे हो किसके द्वारा विदित होगा एक दृग रूप है सब का प्रकाश करने वाला वो किसके द्वारा प्रकाशित होगा विचार करके फिर तर्कतश्च निर्धार्य निर्धारण निश्चय करके तर्क से भी निर्धारण निश्चय किया विदित अविदित अपने से भिन्न होते हैं उनसे भिन्न अपना स्वरूप है अन्य देव तद अविदिता अविदितादि तो हे उपादेय रहित शुद्ध स्वरूप अपने से भिन्न विदित विदित उनसे भिन्न और निश्चय किया उनसे भिन्न और क्या रहेगा अपना स्वरूप निर्धार्य निश्चय करके स्वानुभव कृता स्वस्वरूप अनुभव साक्षात्कार यही साक्षात्कार साक्षात्कार कुछ देखने का नहीं वही साक्षात्कार है अज्ञान आवरण नष्ट हो गया संशय विपर रहित तो ज्ञान पहले संशय विपरीत विपरीत देहादि में हम बुद्धि रख करके ज्ञान था अभी देहादि में हम बुद्धि छोड़ करके देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब का उपाधि को छोड़ करके उपाधि विलक्षण और जो शुद्ध स्वरूप है वो अन्य जितने उपाधि सब का निराकरण कर दिया स्वरूप का निश्चय हो गया हम तो वो जो निश्चय होता है वो निश्चय होता है अनुभव जब वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाए स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म रहता है जो वही अनुभव स्वरूप है स्वानुभव कृत्वा आचार्य सकाशम उपगम आचार्य के पास जाकर के उवाच मन्य हम अथे विदित विदितम मन्य विदितम जाकर का मन्य विदितम कदापि मैं मन अथ इदानीम विदितम ब्रह्म इति शब्द से केवल नहीं विदितम ब्रह्म पहले भी कहा था यदि मन्य सुवेदिति या भी भी कहा था विदितम ब्रह्म शब्द कहने से कुछ नहीं शब्द खाली कह करके शब्द सीख लें ये देह का ये देह का नाम ये देह वहां गया था ये शरीर वहां गया था इतने कौन से ब्रह्म ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं अहम स तो कह दिया तो गया ज्ञान नष्ट हो गया ये शरीर कहा तो ज्ञान है ये अर्थ नहीं अरे विदितम ब्रह्म कहे तो बस गया अज्ञानी है ये अर्थ नहीं है पहले जो था उपाधि परिचिन्न रूप से ज्ञात अभी साक्षात्कार होने से विदितम शब्द वही शब्द कहेगा किंतु उपाधि परिचिन्न ने अहम अस्मि ब्रह्म इसका निश्चय है शब्द से आचार्य के सामने कहता है मन विदितम है मैं तर्क से कैसे निश्चय किया तर्क तस्चेति ये तर्क आवश्यक है श्रवण करने के बाद मनन करना पड़ता है युक्तिया अनुसंधान तर्क से अनुमान अनुसंधान करना पड़ता है श्रोतव्य श्रोतव्य श्रुतिवाक्यभ्य मंतव्योश्च उपपद्यभि मंतव्यश्च उपपद युक्ति से मनन करना है मनन करने से प्रमेय संशय की निवृत्ति होती है कैसे ब्रह्म अद्वितीय है कैसे जीव से अभिन्न है कैसे जगत मिथ्या है इस मानन से ये कैसे क्या वेद्यते घटादिवत अनात्मत्वादि प्रसंगाद ब्रह्म यदि वेद्य ज्ञेय होगा तो एक दीर्घ रूप है प्रकाश और प्रकाश्य जैसे प्रकाश्य घट प्रकाश रूप है घट प्रकाश रूप है क्या दीप एक प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए बड़ा दीप चाहिए या छोटा दीप से हो जाएगा प्रकाश रूपन से अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है प्रकाश रूपन से अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है इसी प्रकार ब्रह्म दृग रूप है सबका प्रकाश के वह यदि प्रकाश्य होगा वेद्य हो जाएगा जैसे कोई प्रकाश्य है वह प्रकाश रूप नहीं है घट प्रकाश्य है प्रकाश रूप है पट प्रकाश्य है प्रकाश होने से प्रकाश रूप नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म यदि वेद्य होगा ज्ञेय होगा और वेदन ज्ञान रूप नहीं होगा ज्ञान नहीं तो क्या होगा अज्ञान अनात्मा हो जाएगा आत्मा रूप नहीं वेद्यते घटाधिपत अनात्मत्व आदि आदि वेद्य होगा तो घट जैसे अनात्मा घटपट आदि वेद्य है अनात्मा है केवल अनात्मा नहीं अनात्मत्व परिचिन्नत्व जड़त्व अनित्यत्व ये सब आपत्ति है जितने वेद्य ज्ञेय पदार्थ है जिस प्रकार घट इस प्रकार सब ज्ञेय पदार्थ अनात्मा है परिचन है अनित्य है जड़ है हिमालय भी पर्वत हो जितने बड़ा भी हो घट आदि के समान वेद्य होने के कारण अनात्मा तो आदि प्रसंग इसलिए ब्रह्म यदि वेद्य होगा तो घट आदि के समान अनात्मा हो जाएगा अनित्य हो जाएगा इत्यादि तर्क से ये सो तर्क है आदि से आत्मत्वाद स्वप्रकाशत्वाच अविदितम न संभवती स्वयं आत्मा स्वयं प्रकाश है उसको अविदित भी नहीं कह सकते अविदित पहला आया था तो अविदित कहेंगे जहाँ ज्ञान की अपेक्षा हो ज्ञान होने के पर अविदित ज्ञान होगा तो विदित होगा ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने उसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं है इसलिए ब्रह्म को अविदित भी नहीं कहा जाएगा एक आत्म स्वरूप है स्वप्रकाश है इसलिए अविदित भी न संभव नहीं अविदित नहीं हो अविदित तो होगा जहाँ ज्ञान की अपेक्षा हो इस प्रकार तर्क से निश्चय करके तर्कत आत्मनो वेद्यम ब्रह्म न भवति इतेव निर्धार्य यही निश्चय हुआ ब्रह्म वेद्य ज्ञेय नहीं होता है आत्मा का ज्ञेय ब्रह्म होगा वेद्य हो जाएगा नहीं वेद्य होगा तो जड़ हो जाएगा अनित्य हो जाएगा परिचिन हो जाएगा वेद्य नहीं होता है न भवतेव इति निर्धार्य ऐसे निश्चय करके ऐसे निश्चय होने पर जो बार-बार विचार करता निश्चय होता है अज्ञान संशयादि अभावेन स्वानुभवम कृत्वा पहले भी निश्चय था किंतु अज्ञान संशय आदि से विपरीय संशय विपरीत युक्त ज्ञान प्रतिबद्ध ज्ञान मनन करने पर संशय नष्ट होता है फिर समाहित होकर के लगातार चिंतन करने से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है देहादि में जो हम बुद्धि भी नष्ट हो जाने से संशयादि अभावेन संशय विपर रहित ज्ञानी स्वानुभव पहले भी ज्ञान था किंतु संशय विपर युक्त प्रतिबद्ध ज्ञान और संशय विपर रहित ज्ञान हो गया उसको कहते अपरोक्ष अपरोक्ष ज्ञान कोई अलग आंख से दिखेगा कुछ अलग हो जाएगा नहीं संशय विपर रहित हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया असंशय विपर सहित ज्ञान है पहले शब्द सुनने पर श्रुति वाक्य सुनने से जो ज्ञान होता है उसमें संशय विपर्य रहता है मनन निधि ध्यान से न करने पर संशय विपर्य नष्ट हो जाता है तो हो गया वही दृढ़ अपरिचय कहीं अपरिचय कहते वही साक्षात्कार वही अनुभव इस शब्द से कहा जाता है अनुभव करके फिर आचार्य के पास आकर कहा मन ने विदितम ये पदभाष्य हो गया इसका वाक्य भाष्य यदि मन्य से सुभेदेति शिष्य बुद्धि विचालना गृहित स्थिरता यही संग्रह संक्षेप वाक्य है वाक्य भाष्य में यदि मन्य से सुभेदेति ऐसा जो श्रुति वाक्य है शिष्य बुद्धि विचालना शिष्य बुद्धि को विचालन करना है किसलिए गृहित स्थिरता ही गृहितस्य स्थिरता ही स्तर्याय गृहित स्थिर हो जाए जो ज्ञान हुआ वो दृढ़ स्थिर होकर रहे थोड़ा समझ लिया किंतु संशय है कुछ को दृढ़ निश्चय नहीं तो फिर कभी-कभी पूछने पर फिर उसको स्थिर नहीं होता है फिर दूसरे कह देता है एक कुछ बोला ठीक बोला था डांट कर पूछेंगे तो नहीं नहीं सर नहीं तुरंत ऐसे दृढ़ होने के लिए विचारना करने से इधर उधर करके थूना निखन न्याय से हिलाने पर फिर दृढ़ होता है यदि मन से सुवेदिति आचार्य कहते हैं तो शिष्य बुद्धि विचारणा करते किस लिए गृहित स्थैर्याय टीका में यदि मन से सुवेदिति अनेन वाक्यना शिष्य बुद्धि विचारना क्रियते शिष्य बुद्धि के विचालना हिलाना इसे विचलन करा करते हैं स्थूणा निखनन न गृहीत से दाढ़्यार्थम स्थूणा निखन खंभा गाड़ते हैं ऊपर कुछ बनाने के लिए खंभा गाड़ते हैं गाढ़ा खोद के खंबा गाड़ते हैं फिर खंभा चारों तरफ जो गाढ़ा खोदा था उसमें भरते हैं उसमें ईंट पत्थर देकर भरते हैं भरने के बाद हिलता है तो सबल से उसको पीटते उल्टे कर सबल को पीट करके फिर थोड़ा हिलाते हैं और थोड़ा हिलता है तो और पत्थर डालो फिर पीटो ऐसे पीटते पीटते फिर थोड़ा हिलाते हैं जब बिल्कुल हिलना बंद हो गया तब आप पीटेंगे नहीं थोड़ा हिलता है नहीं अभी नहीं हुआ और थोड़ा पत्थर डालो फिर पिटाई करो ऐसे पीटी करके थोड़ा पानी देकर पत्थर पीटते हैं बिल्कुल मजबूत हो गया आगे हिलेगा नहीं ये न्याय स्थूणा निकन न्याय स्थूणा काटने गया इसे न्याय से विचारण करते हिलाते हैं ये क्या प्रयोजन है खंबा को हिलाना स्थिर करने के लिए मजबूत करने के लिए हिला करके देखे हिलाए तो और उड़ा काढ़ो गृहित दाढ़्यातम गृहितस्य दृढ़ करने के लिए दृढ़ता के लिए शिष्य बुद्धि विचालना ये एत संग्रह वाक्यम विवृणति ये संग्रह वाक्य हुआ यदि मन से सुवेदेति शिष्य बुद्धि विचारना गृहित स्थिरताई ये वाक्य हुआ संग्रह वाक्य उसका फिर व्याख्यान वाक्य भाष्य विवृणति विदिता निवर्त्य बुद्धिम शिष्य से स्वात्मन्य अवस्थाप्य तद्वे ब्रह्मत्वं विद्धि स्वराज्य अभिषिच्य उपास उपास्य प्रतिषेधन प्रतिषेधनात् आस्य बुद्धिं विचालयति यदि मन्यसे सुवेदाहं ब्रह्मेति त्वं ततो अल्पमेव ब्रह्मण रूपं वेत्तत्वम इति नूनं निश्चितं निश्चितम आचार्य विदिता विदिताभ्याम निवर्त्य अन्यदेव तद्विदिता तथा विदिता तथि विदित अविदित से उसको निवृत्त करके अलग करके हटा करके विदित नहीं अविदित नहीं किसको निवृत्त करना बुद्धि को बुद्धि विदित नहीं विदित से हटाना अविदित से हटाना पहले ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञात वस्तु अज्ञात वस्तु विदित अविदित कोई होगा बुद्धि को उसे निवृत्त किया नहीं ब्रह्म विदित नहीं अविदित नहीं अन्य देवता विदिता अत तो अविदिता अधीत तो बुद्धि जो ज्ञात वस्तु अज्ञात वस्तु में जाती थी उसे हटा करके बुद्धि को निवृत्त कर दिया आचार्य ने तो निवृत्त करके कहाँ रखेंगे बुद्धि कहाँ रहेगी शिष्य से बुद्धि किसकी बुद्धि शिष्य की बुद्धि को विदित अभिते दोनों से हटा दिया आचार्य ने हटाया हटा कर कहाँ रखा स्वात्मनि अवस्थाप्य अपने स्वरूप क्योंकि अपने से भिन्न ही विदित अविदित होते हैं तो विदित अविदित दोनों को निषेध करें तो कुछ बचेगा अपने स्वरूप आत्मा ही बचेगा आत्मनि स्वात्मनि अवस्थाप्य बुद्धि को आत्म स्वरूप में अवस्थापन करा के ज्ञान विदित अविदित से भिन्न है ब्रह्म तो बुद्धि जा करके अपने स्वरूप में स्थित होगी क्योंकि आत्मा से भिन्न ही विदित अथवा अविदित उससे अन्य कहीं तो आत्मा में बुद्धि स्थिर होगी वो कह करके उसके बाद कह तदेव ब्रह्म तम विद्धि उसको ब्रह्म समझो हे उपादेय रहित विदित अविदित अन्य ब्रह्म वही तुम उसको ब्रह्म समझो इति स्वराज्य अभिषिच्य स्वराज स्वराज्य पद में अभिषेक करके स्वराज्य का निरंकुश स्वातंत्र्य यही होता है स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य का अर्थ अपने मन में जब आए जहां भाग जाओ मन में आए तो सुनो नहीं तो छोड़ दो ये स्वातंत्र्य नहीं है स्वातंत्र तभी होता है ब्रह्म में मन स्थिर हो गया तो स्वतंत्र कोई उसमें आरोप परतंत्र नहीं कोई कुछ नहीं मन को बुद्धि में स्थिर बुद्धि को ब्रह्म में स्थिर कर देना यही स्वराज्य तो आचार्य ही स्वतंत्र देते हैं आचार्य के अधीन रहेगा तो आचार्य उसको स्वातंत्र देंगे स्वातंत्र की प्राप्ति के लिए आचार्य के परतंत्र ना होता है सबसे पहले से जो स्वतंत्र हो जाएगा और स्वतंत्र कौन कौन देगा तो पहले ही स्वतंत्र है स्वतंत्र क्या है जो मन में आता है वही करना मन में आता है तो इधर-उधर भटको मन में आता थोड़ी समय रह जाओ मन में आता भागो मन में आता जो करो ये स्वतंत्र है ना यही लोग स्वतंत्र समझते जो हमारे मन में हम करेंगे किसकी बात क्यों मानेंगे हम स्वतंत्र है ये स्वतंत्र नहीं है ये तो मन के परतंत्र है इसको समझे मन को अपने वश में रखना मन के परतंत्र नहीं होना आचार्य के परतंत्र इसलिए होते हैं बड़े-बड़े महापुरुष भी गुरु के अधीन होते भगवान भी गुरु के पास गए स्वतंत्र होने के लिए गए स्वतंत्र क्या मन के मनमानी करने के लिए नहीं आचार्य के परतंत्र रहने पर ही मन स्वतंत्र होता है जब बुद्धि ब्रह्म में स्थिर हो जाए ये स्वराज्य स्वातंत्र्य निरंकुश सारा स्वातंत्र्य टिप्पणी में दिया स्वराज्य का अर्थ स्वराज्य निरंकुश स्वातंत्र्य इत्यावत निरंकुश स्वातंत्र्य में इसको अभिषेक करके इसे अभिषेक करते ना राजा राजा पद में अभिषेक वो किसी पद में अभिषेक अभिषेक किया जाता है स्वातंत्र निरंकुश ऐश्वर्य में अभिषेक हो गया ए पद वो अभिषेक जो हो जाता है निरंकुश ज्ञान होने पर ऐश्वर्य उसमें कोई अंकुश नहीं है निरंकुश है अन्यत्र किसी पद में हो तो अंकुश है जितने बड़े राजा पद पर है तो वो अंकुश है शत्रु से भय रहता है भय रहता है ना नहीं राष्ट्रपति हो भी बड़े राज्य का राजा भी हो सम्राट हो तो भी भय रहता है किंतु ये जो साराज्य है इसमें कोई अंकुश नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है देवता भी कुछ नहीं कर सकते अभिषेच्य उपास्य प्रतिषेधन तब कहते ब्रह्म यही है नेदम यदि तुम उपास्यते जो उपास्य को ब्रह्म समझता था उपास्य ब्रह्म नहीं है परिचिन्न बुद्धि से जो इदंत्वेन जिसकी उपासना कर तो भिन्न की वो, ब्रह्म नहीं है उसका प्रतिषेध कर दिया करने के बाद प्रतिषेध न तो सब निषेध कर दिया अभिषेक करके अस्य बुद्धि में विचालयति फिर बुद्धि को हिलाते आचार्य विचारण करते हैं दृढ़ हुआ नहीं थोड़ा नहीं करना थोड़ा खंभा को हिलाओ देखो सब कर लिया अभिषेक कर दिया निरंकुश ऐश्वर्य में स्थापना करके उपासिका प्रतिष्ठित कर लिया विदित तो दोनों से बुद्धि को हटा दिया सब रखने के बाद फिर देखते मजबूत हुआ या नहीं हुआ थी यदि मन्य से सुवेदा हम ब्रह्मेति यदि मान तो ब्रह्म में ठीक जानता हूं तुम तत्व अल्पमेव ब्रह्मणु रूपम वेत्त तुम तो ब्रह्म का थोड़ा ही रूप जानते हो परिचन को ब्रह्म मानते हो इत नूनम नून का था निश्चितम मान्यता आचार्य आचार्य से मानते कि थोड़ा ही तुम जानते हो टीका में अल्पमेव ब्रह्मण रूपम नूनत्वम वेत्थेति को मान्यते अल्प ही ब्रह्म का रूप तो मानते हो इसे कौन मानता है इति आकांक्षाएं आह मान्यते आचार्य श्रुति कहते धर्मेव नम विदितम ऐसा आचार्य मानते हैं सा पुनर्विचालना किमर्था इति उच्यते ये बुद्धि को विचालना करना किस लिए पूर्व गृहीत वस्तु बुद्धे बुद्धि स्थिरताई पूर्वम गृहीतम यद वस्तु जो ज्ञात हो गया वस्तु ब्रह्म उसमें बुद्धि की स्थिरता के लिए दृढ़ होने के लिए देवेशपि सुवेदामिति मन्यते यह सोप्यस्य ब्रह्मण रूपं द्वारमेव वेत्ति नूनम देवेश का दो प्रकार क्या देव में देवता में कोई यदि जानता है सुवेदा हम इति मन्यते यह सोप्यस्य ब्राह्मण रूपम थोड़ा भी जानता है नुनम कस्मात अभिषेत्वात् कस्यचित् ब्राह्मण ब्रह्म किसका विषय नहीं होता है तो देवता को की वजह से ज्ञात होगा अथवा अल्पमेवास्य आध्यात्मिकम मनुष्यसु देवेषु च देविकम अस्य ब्राह्मणो यद्रूपम तदिति संबंध अथवा अल्पमेव रूप है जो आध्यात्मिक रूप मनुष्य में मानते हो अल्प ही और देवेषु च आदिदैविकम देवता में जो रूप ब्रह्म का आदिदैविक रूप कोई देवता को ब्रह्म मान लिया ये जो रूप ब्रह्म का मानते हो वो भी अल्प ही है ब्राह्मण यद्रूपम अर्थात आदिदैविकम जैसे पदभाषी में कहा था किसी देवता को ब्रह्म मान कर आदिदैविक रूप को ब्रह्म मान लिया वो भी अल्प है अथवा इसमें एक अधिक आया देवेश अपि सुवेदामिति मन्यते य देवता में सुवेदा ऐसा जो मानता है वो भी सो भी अल्प ही जानता है आदिदेविकम अस्य ब्राह्मण यद्रूपम तदिति सम्मद यद इति यद यद्रूपम यादृशम अस्य ब्राह्मण रूपम त्वम अमस्तास तादृशम देवेश अपि यो मन्यते सोपि दहरमेव नून मन्यते इति योजना यादृशम से ब्रह्मण रूपम तम अमस्था जैसा ब्रह्म का स्वरूप तुमने माना तादृशम देवेशप यो मन्यते देवता में ऐसे रूप जो मानता है सो भी दहरम एव नूनम एव थोड़ा ही जानता है तो देवेशु पहला देवेशपि अमित मन्यते ह सोप्यस्य ब्रह्मण रूपम दहरम एव नूनम अथ नुइति हेतु भाष्य में हां पहले भाष्य में अथन्वेति हेतुर्मीमांसाया अथनु अथनु यदि आए ये मीमांसा के हेतु दहरमेव अस्यद्रुम अथनु मीमांस्यमेव तम यदस्य देवेषु अथनु अथनु का अर्थ इसलिए तो अल्प ही रूप जानते हो इसलिए विचार करना चाहिए अथनु इति हेतु है अथनु इति हेतु किसके हेतु मीमांसाया विचार करना चाहिए विचार करना क्यों चाहिए क्योंकि थोड़ा ही जानते हो अथनित हेतु है तस्मात मीमांस्यम आगे जो मीमांसा दिया इसलिए मीमांसा विचार करना चाहिए मीमांसा का हेतु है क्योंकि थोड़ा ही परिच्छन रूप जानते हो इसलिए और विचार करना चाहिए अथन्वित हेतु मीमांसाया ये संग्रह वाक्य है टीका में अथनुति हेतु मीमांसाया इति संग्रह वाक्यम विभिन्न इसका व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार यस्मा यस्माद् दहरमेव सुविदितं ब्राह्मण रूपम अन्यदेव तद विदितादित्व उक्तत्वाद सुवेदेति च मन्यसे अतो अल्पमेव वेत्तत्वं ब्राह्मण रूपम यस्माद् अथनु मीमांस अथनु तस्माद् मीमांसमेव अध्यापिते तव ब्रह्म विचारे में यावत विदिता विदित अनुभवित अर्थ यस्मा दहरमेव सुविदितम ब्रह्म अनुरूपम क्योंकि ब्रह्म का जो रूप तुम्हारे द्वारा ज्ञात है अल्प ही दहरमेव स्वल्प ही है ब्रह्म रूपम अल्प क्यों है क्योंकि अन्य देवता विदिता इतुक्तत्वाद ब्रह्म विदित से अन्य है तुम विदित कहते थोड़े को जानते हो विदित तो परिचिन्न है विदित से अन्य है इसलिए थोड़ा कि तुम जानते हो वास्तव नहीं जानते हो तो सुभेद इति चमन्य से तुम मानते सृष्टि सुष्टुवेद वो तो विदित होता है नहीं तुम सुभेद जानते हो इसलिए अतो अल्पमेव वेत्थत्वम ब्रह्मण रूपम ब्रह्म का स्वरूप तो थोड़ा ही जानते हो ठीक ठीक नहीं जानते हो यस्मात् अथनुकात तस्मात् इसलिए तुम अल्प जानते हो इसलिए विचार करना चाहिए अथनुकात तस्मात् मीमांसमेव अद्यापि ते तव ब्रह्म अभी भी तुमको और विचार करना है अद्यापि ते मैं म्यान मीमांसा फिर विचार करो तव ब्रह्म विचारे में कब तो विचार करेंगे यावत विदिता अविदित प्रतिषेध आगमार्थ अर्थ विदित अविदित प्रतिषेध आगम विदित अविदित दोनों का प्रतिषेध करने वाले आगम कौन आगम है अन्य देवता विदिता अथवा विदिता दधि जब तक विदित अविदित प्रतिषेध आगम का अर्थ अनुभव तब तक आगम है अन्य देव तद विदिता तत अविदिता तदि ये आगम है जो आगम प्रतिषेध करता है विदित अविदित दोनों का उसके अर्थ अनुभव होने तक विचार करते रहना चाहिए तब तक साक्षात्कार होने तक विचार करना है और नहीं कुछ नहीं विचार ही विचार करते रहना साक्षात्कार होने तक भोजन करना है कितने खाना है तृप्ति होने तक साक्षात्कार होने तक ही विचार करना है प्रतिवचन से अर्थम संग्रहितम विवृणति जो उत्तर है प्रतिवचन आचार्य ने कहा मीमांसमेव इसका अर्थ मन्ये विदितमिति शिष्यस्य अच्छा प्रतिवचन शिष्य का उत्तर मन्ये विदितमिति शिष्यस्य मीमांसा अनंतर उक्ति प्रत्यय संगते है मैं नहीं हाँ, मन्ने विदितम भाष्य में मन्ने विदितम इति शिष्यस्य मीमांसानंतर उक्ति मंत्र में आए अंत में मन्ने विदितम मन्ने विदितम ये शिष्य का वचन है अथनु में ते यहां तक आचार्य ने कहा उसके बाद शिष्य जाकर एकांत विचार करके साक्षात्कार करके आकर कहा मन्ने विदितम मन्ने विदितम इति शिष्यस्य उक्ति मीमांसानंतर उक्ति मीमांसा के बाद शिष्य का कथन इसलिए प्रत्यत्र संगते प्रत्यत्रय जैसे शास्त्र का उपदेश आचार्य का उपदेश ऐसा अपना अनुभव तीनों एक होना चाहिए साथ आचार्य का उपदेश शास्त्र के अनुसार शास्त्र में जैसे कहे आचार्य का उपदेश ऐसे है दृढ़ निश्चय होगा तभी आगे मनन करेगा और शास्त्र में कुछ कहेगा आचार्य कुछ दूसरा कहते तो मनन क्या करेगा और शास्त्र में जैसे कहा गया आचार्य श्रवण किया आगे अनुभव कोई अलग हुआ तो भ्रांति है ऐसे अनुभव होना चाहिए कोई कोई कहते ये तो हमारा अनुभव है शास्त्र में कुछ कहा गया उसके ऊपर कुछ अलग कोई कहेंगे कहते ये तो शास्त्र में से कहा गया किंतु हम अपना अनुभव सुनाते हैं कोई कोई पूछते हैं महाराज जी आप अपने अनुभव कहिए ये तो शास्त्र में कहा गया शास्त्र हम तो बहुत हमने पढ़ा बहुत जानते हैं अपना अनुभव बताइए कहीं शास्त्र का नाम लेते नहीं शास्त्री बात छोड़ दिए अनुभव कीजिए कहिए अनुभव तो विरोचना का भी हुआ था अनुभव करे गुरु बन गया देह ही आत्मा है का इसको ही पोषण करो शास्त्र आचार्य उपदेश के अनुसार अनुभव हो वो अनुभव है उसे भिन्न अनुभव हो गया तो वो भ्रांति है प्रत्यत्र तीनों एक होना चाहिए उसी संग्रह वाक्य प्रतिवचन अर्थ संग्रह से कहा गया उसका विवरण सम्यक वस्तु निश्चय विचालित शिष्य आचार्य न मीमांसमेवेत मेव त इति चौक्त एकांत समाहित भूता विचार्य यथोतम सुपरिनिश्चित सन आह आगमाचार्य आत्मानुभव प्रत्यय प्रत्ययत्रयस्य एक विषयत्वेन संगत्यर्थम सम्यक वस्तु निश्चय करने के लिए विचालित शिष्य आचार्य ने आचार्य ने कहा अभी विचार करना है बुद्धि विचारण क्या सम्यक वस्तु निश्चय के लिए वस्तु का सम्यक निश्चय हो इसलिए विचारित तो क्या आचार्य ने मीमांसा में बताया इति चौथ का अभी विचार करना है इति कहने पर एकांत समाहित होता शिष्य जाकर एकांत में समाहित होकर के विचार किया विचार कर यथोतम अन्य देव तद विदिता तत अविदिता विदित अविदित सन्य फिर सुपनिश्चित सन अत्यंत निश्चित दृढ़ निश्चय हो गया आह आकर के आचार्य के पास कहा किसने कहा आगम आचार्य आत्मानुभव प्रत्यय त्रयस्य एक विषयत्वेन संगतेर्थम जो आगम का वाक्य में उपदेश है आचार्य ने कहा वही आत्मा अनुभव अपना अनुभव तीन प्रत्यय हो गया आगम का आचार्य का अपना अनुभव प्रत्यय त्रयस्य एक विषयत्वेन एक विषय को हो तो संगति होती है भिन्न हो तो संगति नहीं इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए कहा गया शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे ही आचार्य का उपदेश शास्त्र के अनुसार शास्त्र के माध्यम से उपदेश इसे शास्त्राचार्य अभ्याम आचार्य शास्त्र का शास्त्र के अनुसार उपदेश ज्ञानी होने पर भी शास्त्र ज्ञान नहीं तो उपदेश नहीं होगा शास्त्र ज्ञान होने पर भी साक्षात्कार नहीं तो नहीं आगम आचार्य उपदेश और ऐसे उपदेश के अनुसार अपना अनुभव ये होना भी चाहिए उपदेश सुन लिया शब्दार्थ समझ लिया इतने नहीं ऐसा अनुभव होना चाहिए तीन प्रत्यय एक विषय को हो तो दृढ़ होता है संगति एकता को प्राप्त करता है अर्थद निश्चय एकत्व होता है टीका में अच्छा अभी है बाकी है हाँ, आगे ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि